श्रीमद भगवद गीता अष्टादश अध्याय उनचास नंबर के श्लोक के ऊपर विचार चल रहा है इसमें सारे मिलकर के अठहत्तर श्लोक होंगे इसमें उनचास नंबर का श्लोक में विचार है इसमें कर्म प्रकरण आया देखो ज्ञान प्राप्ति मोक्ष प्राप्ति के लिए शुरुआती साधन कर्म है जिसका हम भाव से ईश्वरार्पण बुद्धि से कर्म यही प्रसंग चल रहा है वो कर्म ऐसा हो अपने अपने वर्ण वर्ण आश्रम के माध्यम से हो गृहस्थाश्रम आदि हो तो आप वहां वर्ण है माने जब परमात्मा का बन जाता है परमात्मा संबंधी रास्ते में चल रहा हो उस समय वर्ण का महत्व तो नहीं है आश्रम का तो है ब्रह्मचर्य आदि आश्रम का है तो परमात्मा का बन गया परमात्मा के हो गया फिर पूर्व पूर्व के वर्णी से कोई मतलब नहीं होता उसका जैसे कन्या है अविवाहित काल में पिता के तरफ से नाम होता है उसका गोत्रादि वो होते हैं उसके विवाहित होते ही विवाह होने पर वो बदल जाता है वैसे परमात्मा के तरफ हो गया जो उसके वर्ण में एकदम तात्पर्य नहीं रखता आश्रम तो है ब्रह्मचर्य आदि आश्रम तो उसका है उसके आधार पर कर्म करना तो ये कहा था ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम शूद्रांत परम तप कर्माणी प्रयोगता स्वभाव यहां से आरंभ किया है प्रकरण कर्म प्रकरण आरंभ है उसके बाद श्लोक में बोला स्वैसे कर्म ने अविरता सब सिद्ध में लगता है कहा स्वकर्म रहता सिद्ध में यथा विद्युत अक्षर इत्यादि अपने अपने कर्म में लगा हुआ व्यक्ति होगा वो सिद्धि को प्रासंगिक सिद्धि को प्राप्त करेगा पर ज्ञान निष्ठा लक्षण ज्ञान निष्ठा की योग्यता की लक्षण अभी ज्ञान के दृष्टान में जाने के लिए योग्यता आ जाएगी उसके अपने अपने कर्म के आधार पर ठीक है स्वकर्म निरता सिद्धि यथा अभिनेता क्षण कहा अपने कर्म में निरंतर लगा हुआ है जो व्यक्ति उसके जो सिद्धि प्राप्त हो रहा मेरे से सुनो कहा क्या है वो कहा यथा प्रवृत्ति नाम ये न सर्वमिनाम तथम स्वकर्मा तुम अभ्यर्थ्य सिद्धि मानव जिससे सारे संसार की प्रवृत्ति है सारे संसार जिससे उत्पन्न होते हैं और जिसके द्वारा सारा संसार व्याप्त है यथा प्रवृत्ति भूतान ये सर्वमिदम ततम व्याप्तम स्वकर्मा तमध्यर्य अपने कर्म के द्वारा उसकी आराधना करके पूजा करके कर्म रूप पूजा अपने आश्रम विहित जो कर्म होगा प्राण कर्म होगा वो पूजा के द्वारा सिद्धिम बिंदति मानव रहा ज्ञान लिखता सिद्धि प्राप्त कर जाता कहा ज्ञान हो जाता उसको स्थिति हो जाती है चलते चलते आगे चलते चलते तब कहा श्रेयां स्वरूपों विगुणा पर धर्मा स्वभाव नियतम कर्म कुरबन आकृति के लिए कहा था दूसरे के धर्म की अपेक्षा अपना धर्म श्रेष्ठ है चाहे दोषयुक्त भी हो यद्यपि अपना धर्म को दोषयुक्त नहीं होता ईश्वर के द्वारा विधान है अपना कर्म करता क्या दोष होना वहां दोषयुक्त भी दिखता हो यदि दूसरे के गुण दिखता है अपने में दोष दिखता है ऐसा भी दिखता हो तब भी अपने लिए श्रेय वही है श्रेयाम सधर्मो विगुढ़ पर धर्मा सुनिष्ठता स्वभाव नियतम कर्म जो स्वभावजन्य संस्कारजन्य है जो कर्म है वो कर्म करता हुआ भगवान आपनोत किल में पाप के भागीदार नहीं होता ये बता रहे उसके बाद फिर कहा सहजम कर्म कौनते असभ सम्मिट मत त्यजेत सर्वारंभाई दोष न धोबे नाग प्राप्त कर्म दोष युक्त ही होता है निर्दोष कर्म कोई मिलने वाला नहीं है तो दोष युक्त है तो क्यों कर्म करके न छोड़े जो सहजन्म है जन्म के साथ साथ आया हुआ जो कर्म है वो कर्म सहजम सहज कर्म है वो सहज आए थे सहज साथ साथ पैदा हुआ उसको सहज कहा जाता है सहजम कर्म कौन थे सदोषम अपना तेजेत दोष युक्त होने पर भी उस कर्म को नहीं त्यागे ये कहा क्यों सर्वारंभाई दोषेण धोमेना विवाह जितने भी आरंभ होते हैं कर्म होते हैं दोष से युक्त ही है निर्दोष कर्म किसी का भी नहीं है जैसे अग्नि जलाने पर धुआं के बिना अग्नि नहीं है तो कर्म करेंगे तो दोष रहेगा ही दोष दोष आए किंतु फिर भी न त्यागे उन्नति के लिए वही कारण बनता है ये कहा उसके बाद कहा था असक्त बुद्धि सर्वत्र चितात्मा पाप नष्कर्म सिद्धि परमाम संन्यासी नाधिगछ यही आया था श्लोक सर्वत्र असक्त बुद्धि में जाएगा जो परवाश्रम धर्म करते करते करते पालन करते करते ऐसी स्थिति हो जाता है ज्ञान निष्ठा की लक्षण आ जाती है योग्यता आत्मज्ञान में जाने की योग्यता आ जाती है उस स्थिति में क्या असक्त बुद्धि सर्वत्र का सभी पुत्रदार जहां जहां आपके आसक्ति के निमित्त थे असक्त बुद्धि आसक्ति रहित होना ये बुद्धि होना असक्त बुद्धि ऐसा व्यक्ति होगा जीतात्मा जैसे शरीर इंद्रियादि को जीता हुआ है अपने अधीन किया हुआ है आत्मा में है संघात पूरा संघात है शरीर इंद्रिय पुंज इसको जीता है जिसने विगत स्प्रिय इच्छा रहित है वो ऐसी स्थिति में पहुंच गया उस स्थिति में क्या होता है नष्कर्म सिद्धि परमाम संन्यासी नादि का श्री कहा नष्कर्म सिद्धि कर्माभाव रूपी सिद्धि को प्राप्त होगा निर्गता कर्मा निर्गतानी कर्माणी यशमाशा निष्कर्म जिससे कर्म सारे निकल गए पहले कर्म किया बाद में उस त्याग देता है कहा ज्ञान लक्षणा की योग्यता जब आ जाती है ज्ञान लक्षणा की योग्यता आत्मज्ञान की तरफ जब हो जाता है कर्म को त्याग देता है वो तो कर्म रहे नहीं यही है <clears throat> निर्गतानी कर्माणी निष्कर्म तस्य भाव नैष्कर्म भाव विषय प्रत्यय लगा हुआ है वही सिद्धि है यहां कर्म का परिणाम ज्ञान लक्षण जो सिद्धि है वो ज्ञान लक्षण योग्यता आने पर नैष्कर्म हो जाए कर्माभाव होगा कर्माभाव होने पर कर्म अब नहीं करता है तो क्या होगा उस स्थिति में पहले वेदांत आदि श्रवण उसका है पहले सुना हुआ है ज्ञान है ज्ञानोत्तर संन्यास है तो कर्तव्य रहा ही नहीं उसका कर्म त्याग दिया यदि ज्ञान के लिए कर्म है आत्मज्ञान के लिए कर्म त्याग ना हो वहां भी त्याग ना हो जिसको से संन्यास बोलते हैं व्यक्तों विविध विविधु जानने की इच्छा इच्छा से संन्यास तो कर्म त्याग ना संन्यास है नैष्कर्म सिद्धिम नैष्कर्म सिद्धि कर्म त्याग सिद्धि परमाम परम उत्कृष्ट है वो मैंने कर्माभाव रूप में रहना ये सिद्धि नैष्कर्म सिद्धि परमाम संन्यास नादिगत त्याग के द्वारा किसका त्याग कर्म संन्यास कर्म का त्याग कर्म त्याग के द्वारा प्राप्त करता है आया मान पहले कर्म करना भी है ज्ञान लक्षणा योग्यता जब अंतकरण में आ जाए बुद्धि में आ जाए हाँ, वो सिद्धि मिल जाए उसके बाद त्यागना है उसको फिर आत्मा के चिंतन मनन में लग जाना है कि आगे साधन बताएंगे ठीक है आगे ब्रह्म प्राप्त करना है ब्रह्मभाव में पहुंचना है साधन शुरुआत के इस काम भाव से करना है इसमें पूर्ण से करना ये कहा इसी का चल रहा है तो टीका में कहा था विदुषा सर्वकर्म त्यागे भी न विदुषा तथा ये तो उत्तम ज्ञानी के तो सर्वकर्म त्याग होगा आत्मज्ञान निष्ठा योग्यता लक्षण आने पर ज्ञानी सब कर्म को त्याग देगा नष्कर भाव में जाता है किंतु तो न अभिदुषा अभी जो आत्मज्ञान की योग्यता जब तक ना आए तब तक कर्म त्याग ठीक नहीं कर रहे विदिशा कर्म त्याग ज्ञानी के कर्म त्याग होने पर भी जो आत्मज्ञान में पहुंचा हुआ है न विदिशा तथा यदि उत्तम अज्ञानी के लिए तो नहीं उसको तो कहा श्रेयान स्वरूप विगुड़ा आदि इत्यादि करे कहा कर्म करना चाहिए कहा हुआ अज्ञान के लिए पूर्व में इधान उत्तम अनुद्या अंतर सुलभता इस पर जो कहा था पूर्व में सिद्धि शब्द आया था यथा प्रवृत्ति भूतान एद सर्वतम स्वकर्मात्म सिद्धि बिंदति मानव कहा था सिद्धि को प्राप्त कर देगा सिद्धि माने ज्ञान लक्षण योग्यता ज्ञान की योग्यता आ जाती है अंतकरण में इसको कहा सिद्धि वहां यही है पूर्व इधान उत्तम अनुत्य पूर्व की बात का अनुवाद करके अनंतर श्लोक तात्पर्य अनंतर श्लोक आएगा असत बुद्धि सर्वत्र इत्यादि श्लोक है उसका तात्पर्य कहते कहा या च भाषण में कहा था या च कर्मा सिद्धि रूपता जो कर्मजन्य सिद्धि कहा था कहा यथा प्रवृत्ति नाम एवं सर्वम तथम स्वकर्मात्म तमभ्यर्थ्य सिद्धि विद्यति हुआ कहा था अपने कर्म के द्वारा सिद्धि प्राप्त करता है कहा था किसको प्राप्त किसको उसके जानता है उसके जानने की योग्यता आ जाती है उसमें यथा प्रवृत्ति भूतान जैसे सारे संसार की उत्पत्ति होती है पुत्रों की प्राणी मात्र की और ये न सर्वे मतलब जिसके द्वारा सारा संसार व्याप्त है जो न हो ऐसा स्थान नहीं है स्वकर्मात्म अभ्यर्थ अपने कर्म के द्वारा उसकी पूजा करके उस तत्व की पूजा कैसे कैसा है वो जिससे सारे संसार की उत्पत्ति है और जिससे सारा संसार व्याप्त है उस भगवान जिसको ईश्वर बोलते हैं भगवान बोलते हैं उसको पूजा किसके द्वारा अपने कर्मों के द्वारा जो अपने अपने कर्म हैं उसके माध्यम से पूजा करना उस पूजा के द्वारा सिद्धि में मानवा का हुआ है सिद्धि को प्राप्त कर रहा है मनुष्य कहा था यथा प्रवृत्ति भूतान एक सर्वज्ञतम कथम स्वकर्मात्म उद्धर सिद्धि में था यही है या च जो कर्मजा सिद्धि रूता कर्मजन सिद्धि कही गई थी यथा प्रवृत्ति भूतान इस श्लोक में कर्मजय सिद्धि ज्ञान निष्ठा लक्षण ज्ञान निष्ठा लक्षण ज्ञान लक्षण निष्ठा की योग्यता सिद्धि है ज्ञान निष्ठा योग्यता लक्षण वही सिद्धि है वो कर्मजन्य सिद्धि ज्ञान में स्थिति के स्थिति के लिए योग्यता आ जाती है वो सिद्धि ऐसी सिद्धि है माने जैसे ईश्वर को पूजा करने से अपने अपने अपने परमाश्रम धर्म के माध्यम से ईश्वर की पूजा करने से ज्ञान लक्षण सिद्धि आ जाती है माने ज्ञान की योग्यता आ जाती है ये सिद्धि शब्द कहते योग्यता है तस्या फलभूता जब ज्ञान निष्ठा लक्षणा की योग्यता आ गई उसके फल क्या हो नैष्कर्म सिद्धि कौन सी सिद्धि कर्माभाव होना उसको ज्ञान होने के बाद कर्माभाव ज्ञान की योग्यता आ जाने पर कर्म त्यागेगा यही है तस्या फलभूता जो ज्ञान निष्ठा योग्यता लक्षण सिद्धि थी पूर्व में कहा हुआ था कर्मजन्य सिद्धि कहा था उसको उसके फल होता है फल स्वरूप सिद्धि क्या है नैष्कर्म सिद्धि पूर्व स्वरूप में कहा हुआ नैष्कर्म सिद्धि है नैष्कर्म सिद्धि में परमाप संन्यासिनाधिक सिद्धि कहा था वो सिद्धि ज्ञान निष्ठा लक्षण वो कैसे ज्ञान निष्ठा लक्षण पहले योग्यता लक्षण थी कैसे थी ज्ञान के लिए योग्यता आ गई थी अब योग्यता आने वाला ज्ञान होगा किसके द्वारा कर्म त्याग के द्वारा जो कर्म कर रहा था जैसे ज्ञान की योग्यता आ गई थी उसको त्याग के माध्यम से निष्कर्मा हो जाना चाहिए तो निष्कर्म स्थिर ज्ञान निष्ठा लक्षण ये ज्ञान निष्ठा लक्षण स्वरूप आई है पहले वाला ज्ञान निष्ठा की योग्यता वाली थी निधन यह ज्ञान निष्ठा लक्षण सिद्धि वक्तव्य यह कहना चाहिए वो मैंने एक सिद्धि तो बता दिया है ज्ञान निष्ठा लक्षण युक्ति किससे होना है तो कर्म से उसका फल रूप जो सिद्धि है उसको बताया नहीं अभी उसको बोलना है वक्तव्य श्लोक आरम्भ थे आगे के श्लोक आरंभ किया जाता है ये कहना है एक आता असक्त बुद्धि सर्वत्र कहीं भी पुत्रदार गृह आदि जितने भी होंगे जहां आसक्ति के निमित्त जहां जहां है सर्वत्र आसक्ति रहित बुद्धि जिसकी हो जाती है किसके द्वारा कर्मजन्य ज्ञान निष्ठा की योग्यता आ जाने पर जीता आत्मा जिसने जीत लिया है जीता आत्मा ये ना जिसने आत्मा में शरीर इंद्रिय संघात को जीता हुआ है इंद्रिय अपने अधीन करके चला रहा है शरीर अपने अधीन करके चलाता है ऐसा जीता आत्मा जीता आत्मा ये ना आत्मा माने शरीर इंद्रिय संघात को यहां आत्मा शब्द कहा हुआ है विगत प्रिय इच्छा रहित कोई भी विषय की इच्छा नहीं अब स्वर्ग आदि पुत्र आदि ये मिले सो मिले कोई इच्छा नहीं विगता स्प्रिया यस्मात साथ विशेष रूप से चली गई इच्छा जिसकी उसको विगत स्पीड कहा जाता है ऐसे तीन बताया यहां तीन लक्षण बता दिया है ये तीन होने पर नैष्कर्म सिद्धि में परमा कहा तो परम उत्कृष्ट नैष्कर्म सिद्धि है कर्माभाव रूपी सिद्धि ऐसी स्थिति है संन्यास नाधिगछी संन्यास न कर्म त्यागे ना पहले जो कर्म कर रहा था बाद में त्याग देना पहले नौका का सहारा लिया था नदी पार होने के लिए नदी पार हो गया नौका छोड़ देता है बस यही है अधिगछत पर प्राप्त के अर्थ होता है कहा था भाष्य इसका हो गया था टीका के साथ है सो अवधारणार्थो भिन्न प्रभो वक्तव्य पत्र संबंधित करते हैं याचा में जो चकार दिया अवतरण भाष्य में इस श्लोक का जो अवतरण था याचा कर्मजा सिद्धि रूपता में च शब्द है वो चब शब्द का अर्थ और नहीं है ये अवधारण एवकार के अर्थ में चकार है ये वह होगा उसका अर्थ चकार का अर्थ और जहां है वहां उसका संबंध नहीं रहेगा भिन्न क्रमा वक्तव्य शब्द के साथ में जोड़ना होगा उसको जो वक्तव्य थे वक्तव्य कहा हुआ है हाँ। तो निष्ठा लक्षणा वक्तव्य एवं वक्तव्य उसी को कहना चाहिए ये कहना है उस सकार का एवकार है और वक्तव्य के साथ में उसके संबंध होगा भिन्न क्रम कहा हुआ है जो अवधारणा अर्थ सकार जो है वो या सब आए हो सकार अवधारण के लिए एवकार के अर्थ में है और भिन्न क्रम जहां है वहीं उसका संबंध नहीं रहेगा तो चकार की जगह पर नहीं है वक्तव्य इतना तो संबंध वक्तव्य शब्द है आगे वहीं पर वक्तव्य श्लोक इसके अवतरण के अंतिम में वक्तव्य कहा हुआ है उसके साथ वही वक्तव्य एवं वक्तव्य है ना सिद्धिर माने नैष्कर्म सिद्धिर ज्ञान निष्ठा लक्षणा एवं वक्तव्य वो चकार करते एवं उसी को कहना होगा किसको कहना होगा जो नैष्कर्म सिद्धि है ज्ञान लक्षणा सिद्धि है उसको कहना उसी को ही कहना आया मानी योग्यता वाली तो हो गई सिद्धि कर्मजन्य सिद्धि थी वो कर्मजन्य सिद्धि जो ज्ञान लक्षण योग्यता सिद्धि थी उसका फल रूप सिद्धि है नष्कर्म सिद्धि है उसी को कहना आया यही कहना है सकारो अवधारणार्थ का चो अवधारणा च अवधारणार्थ में है एवकार अर्थ में है और भिन्न क्रम जहां है वही अनुय नहीं होगा सकार का वक्तव्य के साथ में संबंध होगा कहा होगा एवं वक्तव्य ऐसा हो जाएगा ठीक है साधना ने उपदेशन नष्कर्म सिद्धि में व्यपदेश साधन बताते हुए नष्कर्म सिद्धि प्राप्ति के लिए ज्ञान लक्षण योग्यता आ जाने पर भी साधन करना है आगे एकाई नष्कर्म सिद्धि नहीं होगी यानी कि ज्ञान लक्षण योग्यता आ गई इतने मात्र से मन नष्कर्म सिद्धि आ जाए ऐसा नहीं है साधना ने उपदेशन साधनों को उपदेश करते हैं आगे कर्म के माध्यम वर्णाश्रम विहित कर्म के माध्यम से ज्ञान कि योग्यता की सिद्धि आ गई आपके पास ज्ञान होने की संभावना पर इतनी सिद्धि हो योग्यता आई हुई है ज्ञान अभी हुआ ना योग्यता आ गई अब उस स्थिति में साधनान उपदेशन आगे भी साधन है इतने जल्दी आपको मोक्ष नहीं मिलने वाला है ब्रह्म प्राप्ति के लिए आगे साधन है साधनान उपदेशन साधनों के उपदेश करते हुए नैष्कर्म सिद्धि में उपदेश नैष्कर्म सिद्धि को ही उपदेश करते हैं कथन करते हैं कहा असक्त बुद्धि कहा यह साधन है असक्त बुद्धि वाला होना चाहिए साधक को हाँ, विषय मात्र में आसक्ति का अभाव कोई भी विषय हो जहां जहां आसक्ति के निमित्त बने हुए विषय होते हैं जो जो विषय होते हैं आसक्ति के निमित्त वहां से आसक्ति का अभाव एक एक साधक दूसरा होगा जीतात्मा शरीर इंद्रिया आदि को जीता हुआ होना चाहिए अपने अधिक किया हो जीता आत्मा ये ना जिसको आत्मा ने जिसने आत्मा को जीत लिया अपने शरीर इंद्र को जीता हुआ है विगत कहा इच्छा रहित तो होना चाहिए विषयों में स्प्रिया रहित इच्छा रहित सही है ये साधन है तो फिर उसके बाद संन्यास है ना नष्कर्म सिद्धि में अधिक क्षति है जो नष्कर्म सिद्धि है कर्माभाव रूप सिद्धि पहले कर्म कर रहा था उसका अभाव ऐसा होगा संन्यास है ना अधिक क्षति कर्म कर्म त्याग है ना जो कर्म त्याग है संन्यास का तो दो अर्थ होगा या तो सम्यक ज्ञान अथवा सम्यक ज्ञान पूर्वक कर्म का त्याग दो अर्थ है या तो यथार्थ ज्ञान आत्मज्ञान उसी के द्वारा कर्म त्याग होगा अथवा आत्मज्ञान पूर्वक कर्म त्याग के द्वारा नैष्कर्म सिद्धि को प्राप्त करेगा परम सिद्धि को प्राप्त करेगा ज्ञान होगा उसको ये कहना है ठीक है कहते हैं पुत्रादि विषय चेतसा संज्ञा भावे भी तस्य अश्वाधीनत्व आ है ठीक है पुत्रादि के विषय आसक्त है जहां जहां आसक्ति के विषय थे पुत्रादि है स्त्री आदि जो जो थे उसमें आसक्ति का अभाव होने पर भी चेत संज्ञा अभाव चित्त के आसक्ति का अभाव हो गया पुत्रादि के विषय आसक्ति नहीं आओ पुत्र चाहिए स्वर्ग चाहिए आसक्ति नहीं है फिर भी तस्य अश्वाधीन तुम फिर अस्वतंत्र होगा परतंत्र होगा व्यक्ति किसके द्वारा शरीर के द्वारा इंद्रियों के द्वारा अपने शरीर इंद्र के माध्यम से पराधीन होगा इस शंका गया तो कहा आत्मा बोल दिया नहीं शरीर इंद्र को भी जीता हुआ उसने आत्मा असत्य उक्त स्प्रिया भाव बदता पूर्वोक्त इष्टा इतिहास कहा कहते पहले असक्ति कहा था असक्त बुद्धि करके बोला बाद में कहते विगत स्प्रिया कहते हैं तो आसक्ति का अभाव और प्रिया का अभाव तो एक ही बात है प्रवृत्ति है प्रिया बने भी इच्छा ही है वो आसक्ति पर भी इच्छा ही है तो पुनरुक्ति है ये मान एक ही अर्थ के लिए दो दो शब्द प्रयोग कर देना यह शंका को कहा ऐसा समझना इसमें देह इत्यादि कहा हुआ था देह जीवित भोगेशु यस्मात ये कहा है देह जीवित भोगेशु यस्मात स विगत स्प्रिय कहा हुआ है प्रिया विगत प्रिय का था विगता स्प्रिया तृष्णा यही है ठीक है और देह जीवित भोगेशु जो शरीर है और जीवन के लिए जो भोग्य पदार्थ होते उससे भी प्रिय नहीं जिसकी उसके लिए करके कहा हुआ है विगत प्रिय और असक्त बुद्धि में पुत्र आदि में तो उत्ती आसक्ति उसको त्यागने के लिए कहा और विगत प्रकार मतलब अपने शरीर संबंधी देह में शरीर में आसक्ति मैं जीता रहूं लंबी आयु हो अथवा अपने उपभोग के लिए योग्य विषय होगा शब्दादि विषय उसमें आसक्ति हो उसको भी त्याग ये विगत का अर्थ है पहले अन्यत्र का आसक्ति त्याग स्वस्वमति आसक्ति का त्याग ये वेदवश स्प्रय कहता है ये कहा शब्द ठीक है कहते उत्तम अनुदेश तत्फलम थे पूर्व की बात की चर्चा करके भाष्कार करके उसका फल बताते आगे माने जब ज्ञान लक्षण योग्यता आने पर कहा यह एवं इत्यादि भाष्य में कहा था यह एवं होता आत्मज्ञ जो आत्मज्ञ हो गया है वो व्यक्ति स नष्कर्म सिद्धि नैसर्ग सिद्धि को प्राप्त होता है कहना अधिगत क्षति है नष्कर्म सिद्धिमन निर्गता कर्माणी यस्मात निष्क्रिय ब्रह्मात्म संबोधात जिससे सारे कर्म निकल गए किससे निष्क्रिय ब्रह्म के ज्ञान से संविक ज्ञान से निष्क्रिय ब्रह्मात्म संबोधन जीवात्मा परमात्मा के ऐक्य ज्ञान इस ज्ञान से सारे कर्म निकल गए फिर तो आत्मभाव में बाद कर्म होना संभव नहीं देहभाव में कर्म था यही है उसको निष्कर्मा कहा तस्य हो निष्कर्म उसका धर्म आएगा निष्कर्म ये कहना है नष्कर्म तत्सिद्धि तत्सिद्धिश्चा जो नैष्कर्म है वही सिद्धि है कर्मधारी श्वास नैष्कर्म सिद्धि में नैष्कर्म सिद्धि में परमाम प्रतिष्ठाओं कर्म कर्मज सिद्धि विलक्षण कर्मजन्य सिद्धि से विलक्षण है कर्मजन्य सिद्धि क्या थी ज्ञान लक्षण योग्यता की योग्यता रूपी सिद्धि थी कौन सी थी ये तो जीवात्मा परमात्मा ऐक्य भाव वाली सिद्धि है ये नैष्कर्म सिद्धि उससे विलक्षण है कर्मजन्य सिद्धि से विलक्षण सिद्धि है ये यानी ज्ञान लक्षण योग्यता को भी सिद्धि कहा हुआ था यथा प्रवृत्ति भूतानाम ये न सर्वम तथम स्वकर्मा तम विधत्य सिद्धि विन्दित मानव वो भी सिद्धि शब्द है पहले वो कर्मजन्य सिद्धि है उससे विलक्षण है सिद्धि जीव जीवात्मा परमात्मा एक ऐक्य रूप सिद्धि है संन्यास नदी अच्छी आया संन्यास मान क्या है कहा सम्यक दर्शन यही है आत्मज्ञान के माध्यम से होना है वो सिद्धि प्राप्त करता है अथवा तत्पूर्व के सर्वकर्म संन्यास है अथवा आत्मज्ञान पूर्वक सर्वकर्म संन्यास मैंने आत्मा का परोक्ष ज्ञान हो गया उस, उसके बाद सारे कर्म का त्याग देता है तो वेदांत सर्वण आदि में लगता है उसके द्वारा प्राप्त होता है कहा ठीक है कहते हैं कर्मणाम निर्गत हेतु महा कर्म के निकलने में हेतु बताते क्या हेतु कहा निष्क्रिय ब्रह्मात्म निष्क्रिय ब्रह्मात्म संबोधात ये कहा था कि यही निमित्त है कर्म के निकलने में निष्क्रिय जो ब्रह्म रूपी आत्मा है उसके ज्ञान से कर्म निकल गए माने जो आत्मभाव में पहुंचा तो वहां कर्म होना संभव नहीं है कर्म निकले हुए उत्तर स्थिति यही है सम्यक ज्ञानार्थत्व ने नैष्कर्म सिद्धि शब्दम व्याख्या अर्थांतर महा सम्यक ज्ञान के विषय में नैष्कर्म सिद्धि का अर्थ की यथार्थ ज्ञान आत्मज्ञान को कहा नैष्कर्म सिद्धि का अर्थ विषयांतर क्या है नैष्कर्म से इत्यादि शब्द से कहा था या फिर उसका दूसरा मान ष्ठी समाज भी हो सकता है कहा कहते हैं चाहते हैं नैष्कर्म से सिद्धि नैष्कर्म सिद्धि भी हो सकता है नैष्कर्म से बाद सिद्धि निष्क्रियात्मक स्वरूप अवस्थान लक्षण से सिद्धि नैष्कर्म से पहले तो कहा था नैष्कर्म से तो तत्सिद्धि से तो कर्मधारे समाज था अब की बार ष्ठी समाज भी किया जा सकता है इसमें नैष्कर्म से सिद्धि नैष्कर्म सिद्धि ऐसा भी किया जा सकता नष्कर्म सिद्धि में समास है नष्कर्म शब्द सिद्धि शब्द का पहले कर्मधारे रहा अभी षष्ठी समास भी हो सकता है कहा नैष्कर्म सिद्धि नष्कर्म की सिद्धि अथवा निष्क्रियात्म स्वरूप अवस्था और लक्षण से निष्क्रिय आत्मस्वरूप में रहता है ना यही नष्कर्म सिद्धि संन्यास है ना लक्षण से स्थिति निष्पत्ति सिद्धि वा निष्पत्ति उत्पत्ति ताम नष्कर्म सिद्धि में परमाम प्रतिष्ठा इत्यादि कहा ठीक है हम कहते हैं प्रदर्शन में प्रकट थे पराम का अर्थ प्रकृष्टाम बोला हुआ है नष्कर्म सिद्धि परमाम का अर्थ भाषिका में प्रकृष्टाम क्या प्रकर्षत्व क्या है उसमें विशेषता क्या है सिद्धि वहां कर्मज इत्यादि कर्मज सिद्धि विलक्षण जो कर्मज अभी सिद्धि थी ना ज्ञान लक्षण योग्यता रूपी सिद्धि थी वो तो क्या हो गया ज्ञान रूपी सिद्धि है ये कौन सिद्धि वो ज्ञान के लिए योग्यता थी कर्म से ज्ञान के लिए योग्यता आ गई थी अंतर्गत में अब ये ज्ञान हो गया ये सिद्धि है ज्ञान रूपा सिद्धि है कहा कर्म सिद्धि से विलक्षण है सिद्धि संन्यास से श्रुति स्मृति सम्यक दर्शन तो अप्रसिद्ध है अयुक्तम तादातम तो यहां संन्यास शब्द श्रुति इसमें भी स्मृति में भी कहीं भी सम्यक दर्शन के लिए संन्यास नहीं कहा आत्मज्ञान के लिए संन्यास कभी कहा नहीं है या कैसे बोल दिया आपने संन्यास ना दिखाते का सम्यक दर्शन है ना ऐसा भाष्य में अर्थ कैसे कर दिया श्रुति में भी प्रसिद्ध नहीं है संन्यास शब्द का मतलब सम्यक दर्शन होता है करके सम्यक ज्ञान होता है करके स्मृति में नहीं स्मृति में भी प्रसिद्ध है तो आपने कैसे बोला कार्य ऊपर प्रश्न है ये संन्यास संन्यास ना अधिगछित माने सम्यक दर्शन ना अधिगछित कहा भाष्यकार ने एक पक्ष में कहा हुआ है संन्यास का मतलब सम्यक दर्शन किया उसके ऊपर आक्षेप संन्यास से श्रुति स्मृति हो सम्यक दर्शन तो अप्रसिद्ध है श्रुति में भी नहीं स्मृति में प्रसिद्ध नहीं है संन्यास शब्द का अर्थ सम्यक दर्शन होता है करके सम्यक ज्ञान होता है अयुक्तम तादात्म्यम दोनों में संन्यास का और सम्यक दर्शन का तादात्म करना एकता करना ठीक नहीं है संन्यास शब्द का अर्थ कर दिया ज्ञान सम्यक ज्ञान तो इसको तादात्म करना ठीक नहीं एकता करना ठीक नहीं श्रुति में प्रसिद्ध है स्मृति में प्रसिद्ध है यह शंका आ गई तो क्या पक्षांतर वहां चलो संन्यास पर आत्मज्ञान पूर्वक कर्म संन्यास के द्वारा ऐसा तो करो संन्यास न करते क्या करो सम्यक ज्ञान पूर्वक तत्पूर्वक कर्म संन्यास जाएगी आत्मज्ञान पूर्वक कर्म संन्यास ये अर्थ उन्होंने कहा संन्यासात नैष्कर्म प्राप्ति इत्यत्र वाक्योपक्रम अनुकूल महा संन्यास के द्वारा मान कर्म त्याग है या आत्मज्ञान हुआ या आत्मज्ञान पूर्वक कर्म त्याग है इसके माध्यम से नैष्कर्म प्राप्ति कर्माभाव रूपी प्राप्ति हो जाता है ये प्राप्ति में वाक्योपक्रम अनुकूल वाक्य का जो उपक्रम के अनुकूल करते च इत्यादि भाष्य से कहा च उत्तम सर्वकरण मनसा सन्यास्य वशी नवद्वारे पूरी दही नई उपक्रम न कारण पंचम अध्याय बोल के आए थे भगवान ने सारे कर्मों को त्याग करके नित्य नैतिक जितने भी कर्म थे सबको त्याग कर मन से ही त्याग करके सुखम आस्ते सुख पर वसी मैंने जो सबको बस में रखने वाला आत्मा है ऐसा न पूरे रही न गुरु पूर्व में रहता है अभी जीवन मुक्ति अवस्था में हो नए करो न न करता हुआ न कराता हुआ ऐसा है ये, वाक्य का उपक्रम है पहले का आरंभ है वही दिखाया ये कहा अच्छा ठीक है हमें आगे बोलते हैं ज्ञान प्राप्ति योग्यता आप बताओ जो ज्ञान प्राप्ति की योग्यता आगे जिसमें किसके माध्यम से माने अपने अपने प्रवणाश्रम भेद कर्म के माध्यम से ज्ञान प्राप्ति की योग्यता ज्ञान प्राप्ति योग्यता बताओ जो ज्ञान प्राप्ति योग्यता वाला जो व्यक्ति होगा ज्ञान प्राप्ति की योग्यता जिसमें आ गई है वर्णाश्रम भेद कर्म के माध्यम से उसका जात सम्यक दिया आगे जाकर के सम्यक ज्ञान उत्पन्न होता है उसका कैसा होगा हाँ। माने वर्णाश्रम भेद कर्म के द्वारा ज्ञान निष्ठा लक्षणा योग्यता आ गई उसके आगे चलते चलते सम्यक ज्ञान उत्पन्न हो गया जिसका जात सम्यक दिया जिसको सम्यक ज्ञान उत्पन्न हो गया उस व्यक्ति का यथार्थ ज्ञान हो गया अत्वजा जिसका तत्फल प्राप्त हो मुक्त उगतायाम उसके फल क्या है मुक्ति है सम्यक ज्ञान जिसको होगा उसका फल क्या होगा मुक्त होना है संसार से मुक्त उगतायाम मुक्ति कहने पर वक्तव्य शेष हो नास्ती दिया है अब आगे यह गीता समाप्त कर देना चाहिए बर्णाश्रम विहित कर्म के द्वारा ज्ञान योग्यता लक्षण सिद्धि आ गई उसके माध्यम से माने कर्म संन्यास के माध्यम से मुक्ति हो गई उसकी उसका फल परम फल मुक्ति है अब वक्तव्य कुछ बचा नहीं उपदेश पूरा हो गया बूटी तो चाहता है जीव तो वक्त विशेष नहीं है ऐसी शंका आ गई तो कहा पूर्वोक्तें इत्यादि बोलते हैं स्वकर्मा स्वकर्मानुष्ठान है पहले कहा हुआ जो स्वकर्मा पूर्व में कहा हुआ है वर्णाश्रम विहित कर्मों की चर्चा हो गई पहले पूर्वोक्त स्वकर्मा स्वकर्मानुष्ठान है ना पूर्वोक्त जो अपने अपने कर्म के अनुष्ठान है उसके द्वारा ईश्वरादल रूपेण ईश्वर की पूजा स्वरूप पूजा रूप से ईश्वर की पूजा की अपरिमित कर्मों के माध्यम से उसके द्वारा जनिदान प्राप्त सिद्धि उत्पन्न हुई थी कौन सी सिद्धि ज्ञान लक्षण योग्यता रूपी सिद्धि पहले कहा कहा यथा प्रवृत्ति भूताराम एक सर्वदा तथम स्वकर्मात्म उत्सर्च सिद्धि मिति मानव इस श्लोक में कहा ये जो सिद्धि है पहले कही गई जो सिद्धि थी वह सिद्धि सिद्धि प्राप्त वो सिद्धि प्राप्त हो गया जिसको ज्ञान लक्षण योग्यता से प्राप्त है उसके आगे उत्पन्न आत्मा विवेक ज्ञान था आत्मा का विवेक ज्ञान भी हो गया आत्मा ज्ञान हो गया उसको फल रूपा है वो साधन रूपा सिद्धि थी पहली वाली सिद्धि ज्ञान लक्षण योग्यता सिद्धि उसके द्वारा फल रूपा सिद्धि आत्मज्ञान विवेक हो जिसका हुआ केवल आत्मज्ञान निष्ठा रूपा नष्कर्म लक्षण उस आत्मविज्ञान जिसको हो गया उसके माध्यम से वर्णाश्रम धर्म के करते करते जाकर के अंतिम में जाकर ज्ञान लक्षण योग्यता आ गई उसके बाद आत्म विवेक हो गया शरीर से भिन्न बुद्धि हो गई उसके केवल आत्मज्ञान निष्ठा अनुभव केवल आत्मा में ही रहना है ज्ञान निष्ठा या आत्मज्ञान की स्थिति में रहने रूपी जो स्थिति है उसको नष्कर्म रक्षा सिद्धे नष्कर रूपी जो सिद्धि होनी है अभी ये न प्रकार बहुत नष्कर्म सिद्धि इस प्रकार से होगी ज्ञान लक्षण योग्यता तब तो वर्णाश्रम धर्म के द्वारा आ गया इतने आने से आत्मानात्मा विवेक हो गया चतुष्ट साधन चतुष्ट में एक साधन हो गया उसका एक साधन हो गया कौन विवेक हो गया मैं शरीर से भिन्न हूं इतनी बुद्धि हो गई किंतु उस निष्ठा में बैठ नहीं पा रहा अभी तो नष्कर लक्षण से देर एन प्रकार भगवती एन क्रम जिस क्रम से होगा वो क्रम बताते हैं क्या क्या साधन चाहिए उसके आगे योग्यता आ गई है केवल विवेक हो गया शरीर और आत्मा के भेद इतना ज्ञान हो रखा है और वो ज्ञान में बैठे रहना है किसमें अब तदाकार वृत्ति में रहना है उसके लिए क्या साधन क्यों तो साधन की आवश्यकता होगी वो साधन बताते हैं तदवर्तम वो साधन ही बताना होगा ये कहना है ये कहा ठीक है क्रमाख्यम वस्तु तद ही उच्चते तद वक्तव्य पर तत्शब्द क्रम से जो वस्तु क्रम से बताएंगे क्या बताएंगे ज्ञान निष्ठा लक्षण आ जाने पर उसको बनाए रखना है फिर शरीर आदि बुद्धि न हो जाए आत्मा का आवृत्ति में रहना होगा उसके लिए कुछ क्रम होते हैं तद वक्तव्य तद आगे तो श्लोक आएगा सिद्धि प्राप्त हो था ब्रह्म तथा प्रोति निबोधवे समाशे नैव कौंते निष्ठा ज्ञान से अपरा सिद्धिम प्राप्त हो यथा ब्रह्म तथा अपनोति निबोध में समासे नैव कौंते निष्ठा ज्ञान से पर सिद्धि प्राप्त जो ज्ञान लक्षण सिद्धि प्राप्त हो गया अभी ब्रह्म प्राप्त नहीं हुआ है सो वेद कर्मों के द्वारा ज्ञान लक्षण योग्यता रूपी सिद्धि आ गई ज्ञान होने की सिद्धि उसके बाद आगे चल करके क्या नैष्कर्म सिद्धि हो गया उसको नैष्कर्म सिद्धि कर्मा भाव रूप सिद्धि हो गई ज्ञान लक्षण सिद्धि आ गई अब उसके पश्चात सिद्धि प्राप्त हो ज्ञान लक्षण सिद्धि जिसको प्राप्त हो गई यथा ब्रह्म जिस प्रकार से ब्रह्म प्राप्त होती आप होती प्राप्त होती जिस प्रकार ब्रह्म प्राप्त करेगा वो अभी ब्रह्म भाव में पहुंचा नहीं है केवल शरीर आदि से अपने को पृथक कर रखा है अभी ऐक्य में गया नहीं है मैं शरीर से भिन्न हूं इतनी बुद्धि है हम ब्रह्मास्म बुद्धि हुई नहीं अभी तो सिद्धि प्राप्त जो सिद्धि प्राप्त है ज्ञान लक्षण सिद्धि आ गई यथा ब्रह्म आपनोति जिस प्रकार ब्रह्म को प्राप्त करता है तथा मैं निबोधा उस प्रकार मेरे से तुम जानो समझो सही है यथराम बोधा निबोधा मेरे से समझो तुम कहा समाशय नहीं संक्षेप में सुनना भाई विस्तार इसका होता नहीं है विस्तार करना संभव नहीं है समास से संक्षेप संक्षेप से सुनो मानी सिद्धि प्राप्त हो गया ज्ञान लक्षण सिद्धि आ गई है वो सिद्धि प्राप्त जो व्यक्ति होगा यथा ब्रह्म आप नोते तथा मैंने बोधा से ने कहा माने जिस प्रकार ब्रह्म को प्राप्त करेगा और उस प्रकार मेरे से सुनो किंतु संक्षेप से कहते संक्षेप से सुनो हे कौन हे कुंती पुत्र अर्जुन निष्ठा ज्ञान से ज्ञान की तो परा समाप्ति जहां जो होगी परम स्थिति परम काष्ठा अभी तो विवेक का हुआ केवल हल्का फुल्का ज्ञान था उसको दृढ़ जब करना हो तो जिस प्रकार दृढ़ होना हो ज्ञान ने जैसे देहात्म बुद्धि अभी कोई भी हटा नहीं पा रहा है कितने दिन से आप शास्त्र सुनते हैं देहात्म बुद्धि गई नहीं जितने दृढ़ता यहां है देहात्म में देह रूप देह में आत्मबुद्धि जितने दृढ़ इतने आत्मा में आत्मबुद्धि होनी चाहिए हल्का फुल्का काम नहीं चलने वाला इस सिनेमा के पर्दे के समान आए गए आए गए काम नहीं चलेगा जब सत्संग बैठे हैं तो कोई आत्मबुद्धि हो गई जैसे उठे तो शरीर बुद्धि ऐसे ज्ञान काम नहीं करने वाला परम सीमा में पहुंचना होगा उसको यही है निष्ठा ज्ञान से अपरा ज्ञान की परम काष्ठा है परम निष्ठा है स्थिति है उसको मेरे से सुनो समझो संक्षेप में समझो कहा हुआ है मैं बताऊंगा किस तरह से ज्ञान की परम काष्ठा में पहुंचता है व्यक्ति हो माने किसी भी परिस्थिति में हम ब्रह्माश को टूटे नहीं अब होगा उस मेरे से सुनो अब ज्ञान की दृढ़ विश्वास ज्ञान में जो दृढ़ विश्वास कम होता है उसके लिए कुछ कर्तव्य है उसका सुनो ये कहना है भाषण कहते सिद्धिम प्राप्त स्वकर्मा ईश्वरम संबद्ध तत्प्रसादाम कायेन्द्रियाणाम ज्ञानिष्ठा योग्यता लक्षाम सिद्धि प्राप्त ये पूर्व का अनुवाद है पहले कहा हुआ था यथा प्रवृत्ति भूताराम एक सर्वता तथम स्वकर्मा तमोदर्च सिद्धि बारे में कहा हुआ था वही यह सिद्धि प्राप्त वही सिद्धि है सिद्धि प्राप्त यथा ब्रह्म तथा सिद्धि प्राप्त स्वकर्मा समदर्च ईश्वरम समदर्च सम्यक प्रकार अभ्यर्च पूजा यही है अपने अपने कर्म के द्वारा ईश्वर की सम्यक प्रकार से पूजा करके तत्प्रसाद आप ईश्वर के द्वारा जो प्रसन्न उनके प्रसाद से ईश्वर की कृपा से प्रसन्नता से उत्पन्न होने वाले जो कायेन्द्रियाणाम ज्ञान निष्ठा योग्यता शरीर इंद्रियों में क्या आता है ज्ञान निष्ठा की लक्षण योग्यता आ जाती है क्या आ जाती है जो श्रम धर्म कर्म करने से ईश्वर प्रसन्न होते हैं ईश्वर प्रसन्न होने पर शरीर इंद्रियादि में जितने भी होंगे ज्ञान निष्ठा की योग्यता आ जाती है ये सिद्धि है उसकी सिद्धिम प्राप्त है यही सिद्धि प्राप्त है यह सिद्धि प्राप्त करते ही है सिद्धि प्राप्त है तन अनुवाद उतार उतरा इसका अनुवाद किया पूर्व का पहले कहा हुआ था सिद्धि प्राप्त यथा ब्रह्म कहा था उसी का अनुवाद है यह आगे के लिए आगे कुछ वाक्य बोल रहा है सिद्धि प्राप्त के बाद क्या करना चाहिए उसको अनुवाद के लिए आगे के वाक्य है कहा किम तद उत्तर में आगे के वाक्य क्या है यदर्थ अनुवाद आगे के वाक्य क्या है जिसके लिए अनुवाद किया जा रहा है पूर्व की बातों का अनुवाद किया जा रहा है सिद्धि प्राप्त तो पहले भी आया था तो यह भी सिद्धि प्राप्त बोला अनुवाद किया तो जिसके लिए अनुवाद हो रहा है सिद्धि प्राप्त यथा ब्रह्म इत्यादि कहा तो यह प्रश्न आ गया किम तद उत्तर उसका आगे के वाक्य क्या है यदर्थो अनुवाद है जिसके लिए अनुवाद किया जा रहा हो ऐसा प्रश्न अनुभव उच्चतय ग्रंथ से उत्तर दिया जाता है यथा सिद्धि प्राप्त होने जिस प्रकार यथा ब्रह्म तथा निबोध में कहा ये जिस प्रकार ब्रह्म है ना उस प्रकार मेरे जिस प्रकार ब्रह्म को प्राप्त करता है उस प्रकार मेरे से सुनो यही है यथा ब्रह्म अपनौती जिस प्रकार ब्रह्म को प्राप्त करता है तथा मैं नहीं उस प्रकार मेरे से सुनो जानो यथा एन प्रकारेण जिस प्रकार से यथा करते एन प्रकार जिस प्रकार से ज्ञानिष्ठा रूपेण ज्ञान निष्ठा होगी मान कर्मज सिद्धि के बाद में ज्ञान निष्ठा लक्षणा होगी क्या होगी पहले ज्ञान लक्षणा योग्यता रूपी सिद्धि आई थी कौन सी सिद्धि योग्यता रूपी सिद्धि कर्मजन्य सिद्धि थी वो उसके बाद में चलते चलते ज्ञान लक्षण सिद्धि है यह सिद्धि ज्ञान निष्ठा रूपेण ब्रह्मा ज्ञान में नेत्राम होना यदि ज्ञान निष्ठा है उस रूप से ब्रह्म परमात्मा में ब्रह्म ने परमात्मा को प्राप्त करता है अपने को ही परमात्मा भाव में प्राप्त करता है यह अर्थ है तथा तम प्रकार तथा निबोध बेनिबोध है उस प्रकार उस प्रकार को मेरे से सुनो तथा मैंने तम प्रकार ज्ञान निष्ठा प्राप्ति क्रम ज्ञान निष्ठा की प्राप्ति का जो क्रम है तो मैं मम वचना निबोध मेरे वचनों से सुनो जानो कहा तुम निश्चय अवधारित अवधारित कहा तुम निश्चय पूर्व वधान करो यही है इसी के माध्यम से के ब्रह्म भाव में पहुंच रहा है निश्चय निश्चय करो कहा किम किन विस्तर है क्या विस्तार से कहेंगे आप नहीं समाज से नहीं वो बोल दिया किम विस्तर है क्या आप विस्तार से बताएंगे इस बात को न इतिहादा विस्तार से नहीं समास है नहीं संक्षेप है नहीं कहते भाई संक्षेप बताऊंगा कहां तक विस्तार कर पाऊंगा संक्षेप में बताऊंगा माने जब विवेक तक हो गया है उसके आगे भाई संक्षेप क्या क्या चाहिए उसको साधन चाहिए ब्रह्म भाव में पहुंचने के लिए शरीर आदि से अपने को पृथक किया हुआ है ऐक्य नहीं कर पाया अभी मैं अहम ब्रह्मास्म नहीं पहुंचा है तो उसके लिए क्या साधन की आवश्यकता होगी बताऊंगा यथा ब्रह्म आपनोते तथा निबोधा यही अन्वय कर जिस प्रकार से ब्रह्म की प्राप्ति होगी उस प्रकार मेरे से समझो समझ करके अवधारण करो निश्चय करो कहा अन्य यह प्रतिज्ञा था जो प्रतिज्ञा की गई थी पहले सिद्धि के बारे में यह प्रतिज्ञा था ब्रह्म प्राप्ति जो प्रतिज्ञा की थी ब्रह्म प्राप्ति सब है ना या अनेर प्रतिज्ञा अनेर या इस वाक्य के द्वारा जो प्रतिज्ञा की गई ब्रह्म की प्राप्ति हाँ, ताम इदम तया दर्शित उसको इस रूप से इदम तया परोक्ष इदम तो देखाने के लिए कहते हैं निष्ठा ज्ञान से परा ज्ञान की जो पराकाष्ठा है परा, परास्थिति है उसको सुनो कहना है ज्ञान से बात पराजित निष्ठा निष्ठावन परिवसान जहां ज्ञान की समाप्ति हो जाती हो उसको निष्ठा कहते हैं वितराम स्थिति ज्ञान की समाप्ति निष्ठा निष्ठावन परिवसान समाप्ति परिसमाप्ति ज्ञान की समाप्ति हो जाती है जहां जाकर के सही है तो सारे की ज्ञान की समाप्ति जहां जीवक जीवक परमात्मा परमात्मा और आत्मा की एकता में समाप्ति होने उसकी कश्य कश्य ज्ञान से परा समाप्ति प्रश्न कश्य प्रश्न आया तो ब्रह्म ज्ञान से ब्रह्म ज्ञान की जहां समाप्ति होनी है यहां परा समाप्ति जो परा समाप्ति वही है किदृशी सा वो परा समाप्ति किस रूप की होती है ये प्रश्न आया सा मैंने परा समाप्ति समाप्ति किस रूप की है वो यादृशी आत्मज्ञान जिस प्रकार के आत्मज्ञान है ना यादृशम जिस प्रकार आत्मज्ञान है उसी प्रकार परा समाप्ति वही है उसी प्रकार है चिंतित तत्व फिर आया आत्मज्ञान किस प्रकार है तत्व है आत्मज्ञान तो या जैसा आत्मा जैसा आत्मा होगा उसी प्रकार का होगा आत्मज्ञान यही है सो असो असो मैंने आत्मा वो आत्मा कैसा है फिर किस प्रकार है यादृशो भगवता उत्ता उपनिषद वाक्य ऐसे नहीं था जिस जिस आत्मा के बारे में भगवान ने बताया हुआ है न जायते प्रेत कदाचित आदि शब्दों के द्वारा और उपनिषद वाक्य से उपनिषद वाक्यों में कहा हुआ है न जायते मृत विपस्थित इत्यादि कहा हुआ कठोपनिषद में है न्याय युक्ति से भी है जैसा आत्मा के बारे में आत्मा कैसा है पूछा तो यही है जैसा भगवान ने कहा जैसा बताया न जायते मृदेवा कदाचिन आदि शब्दों के द्वारा कहा हुआ है उपनिषद वाक्यों के द्वारा कहा हुआ है और न्याय में युक्ति से भी कहा हुआ है जैसा आत्मा के बारे में आत्मा वैसा है ये कहा ठीक है ना सिद्धिम प्राप्त है तो उदम अस्मात अनुद्यते सिद्धि प्राप्त यदि अयुक्तम ये ठीक नहीं है अस्मात उत्तम ये पहले कहा हुआ है सिद्धि प्राप्त यथा ब्रह्म तथा ब्रह्म क्यों कहना यहां तो पहले कहा हुआ है सिद्धि के बारे में पहले बताया हुआ है यथा प्रवृत्ति भूताना सर्वेदा तथा उसका कर्मात्म सिद्धि विद्यति मानव सिद्धि लाभ करता है कहा हुआ है तो सिद्धि प्राप्त तो बोलो सिद्धि लाभ बोलो एक ही चीज है पहले लाभ धातु का प्रयोग किया है तो यह सिद्धि प्राप्त क्यों बोलो ये प्रश्न उठा उत्तर देते हैं अनुवाद है वो उसी का अनुवाद है पहले सिद्धि प्राप्त था पहले यथा प्रवृत्ति भूताराम यथा सर्वेदा तथा स्वकर्मात्म सिद्धि बिंदत मानव कहा उसी का अनुवाद है यहां यही है ये कहना है उत्तर में प्रश्न पूर्वक में आहा उत्तर उसने पूछा क्यों कहा था तो जो उत्तर है ना उसे प्रश्न पूर्वक कहता किम तत् उत्तर क्या है आगे आगे के लिए बोला था ये सिद्धि प्राप्त किसने कहा आगे के लिए अनुवाद है बोला आगे उसका काम है इसलिए अनुवाद किया पहले वाक्यों का तो उसने कहता तो किम तत् प्रश्न कर दिया क्या है वो उत्तर आगे आगे क्या कहना चाहते हैं सिद्धि प्राप्त होने के बाद तो कहा यदर्थो अनुवाद इति उच्यते हैं किसलिए कहा है अनुवाद तो कहते उच्यते ग्रंथ से उत्तर देते हैं यथा यह प्रकार ब्रह्मात्म जिस प्रकार से ब्रह्म की प्राप्ति गई सिद्धि प्राप्ति के बाद कुछ बीच में काम है केवल सिद्धि प्राप्त हो गई ज्ञान लक्षण में हल्का फुल्का ज्ञान में बैठ गया इतने से ब्रह्म प्राप्ति नहीं रहा है अभी तो केवल शरीर से पृथक किया है ज्ञान के माध्यम से मैं भिन्न हूं इतना हुआ उस परमात्मा से ऐक्य नहीं घर तो पाया अभी कहा ठीक है कहते हैं ज्ञान निष्ठा प्राप्ति क्रम से ज्ञान निष्ठा ज्ञान की जो परिसमाप्ति है जीवात्मा परमात्मा के ऐक्य में समाप्ति है ज्ञान की समाप्ति कहा हम ब्रह्माष्टम में जाकर समाप्ति होनी है ज्ञान निष्ठा प्राप्ति क्रम से ज्ञान निष्ठा की जो प्राप्ति का क्रम है विस्तरण उक्त दुर्बोधत्व आशंक है विस्तार से कहने पर श्रोता अकेले लिए मुश्किल जानना मुश्किल पड़ जाएगा व्याख्या व्याख्या व्याख्या करते करते श्रोता कहा कि कहां पहुंच जाएगा समझ नहीं पाएगा मूल क्या है स्थिति ऐसी है तो दुर्बोधत्तम जानना मुश्किल होगा ये समझ का शंका आशंक्य कहते हैं परिहार दिया इस शंका की परिहार करते हैं शंका उठाई थी किम इत्यादि कहा था किम तद उत्तर में था तो अनुवाद इत्यादि था हाँ, किम किम किम विस्तरेगा क्या विस्तार से कहोगे आप कहते ना ठीक है मैं कहना चतुर्थपाद से पूर्व असंगति में असंग है चतुर्थपाद आया निष्ठा ज्ञान से अपरा तो ये ये तो पूर्व के साथ संगति नहीं है ये शंका आगे तो कहा यथा इत्यादि शब्द से कहा हुआ है यथा ये न प्रकार ज्ञानिष्ठा रूपेण ब्रह्म परमात्मा आपनोति जिस प्रकार से ज्ञान निष्ठा लक्षण के द्वारा ब्रह्म निष्ठा प्राप्त करता है तथा तम प्रकार ज्ञान निष्ठा प्राप्त क्रम में कहा वो प्रकार मान क्या है ज्ञान निष्ठा की जो प्राप्ति का क्रम है मैं ममा वचनात् होता मेरे वचनों से तुम समझो तुम निश्चय निश्चय ना अवधार है निश्चय पूर्वक अवधारण करो यही है ब्रह्म प्राप्ति का क्रम निश्चय करो साधन जो बताने जा रहा हूं मैं आगे एक ठीक है निष्ठाया निष्ठा या निष्ठा अपेक्षा पूर्वक है किसकी निष्ठा सापेक्ष प्रतिसंबंधी प्रतिनिधिष्टव्य उसके संबंधी किसमें निष्ठा है किसकी निष्ठा है उसके संबंधी को बताना पड़ेगा खाली निष्ठा बोलने से काम नहीं चलेगा तो निष्ठा वाली स्थिति किसमें स्थिति किसकी स्थिति चाहिए निष्ठा या सापेक्ष निरपेक्ष शब्द नहीं होता निष्ठा बोलने से किसकी निष्ठा कहाँ निष्ठा सापेक्ष है माने ष्टी दिखाना संबंध दिखाना होगा या अधिकरण दिखाना होगा सापेक्ष होने से प्रतिसंधि उसके जो संबंधी है निष्ठा की संबंधी जो होगा प्रतिदृष्ट तो उसका भी दृढ़ होना चाहिए ये कहा कश्य ये प्रश्न किया किसकी निष्ठा ये प्रश्न किया वो निष्ठा किसकी है हाँ, कहते उत्तर दे ब्रह्म ज्ञान से उत्तर दिया क्या दिया या परा परिसमाप्ति विज्ञान की परिसमाप्ति निष्ठा की परिसमाप्ति कहा ज्ञान पूर्ण दृढ़ हो जाता है ब्रह्म ज्ञान होने पर स्वयं को ब्रह्म भाव से समझने पर ये कहा प्रश्न उठता आगे तस्य परानिष्ठा न प्रसिद्धा इति ब्रह्मज्ञान जो होगा उस उसमें परानिष्ठा न प्रसिद्धा प्रसिद्धा नहीं है इति कृत्वा साधना साधन अनुष्ठान अधीना साध्या इति तत्व प्रसिद्ध साधन का अनुसार से ही साध्य होगी इति प्रसिद्ध पूर्व पूछता है ऋषि का और निष्ठा किस प्रकार की है निष्ठा के लिए फिर साधन हो ये प्रश्न है ऋषि सा ये पूछा तो से आप पूछने पर कहते हैं यादृशम आत्मज्ञान को उत्तर देना है क्या देना है जिस प्रकार के आत्मज्ञान है उसी प्रकार के वो निष्ठा है आत्मनिष्ठा वैसी है वो ये कहा हुआ है दृष्टि साहब प्रसिद्धम आत्मज्ञानम अनुरुद्ध है प्रसिद्ध आत्मज्ञान को अनुरोध करके दिखाते हैं निष्ठा को क्या दिखाते हैं जैसे आत्मज्ञान आत्मज्ञान तो प्रसिद्ध ही है तो उसी के समान निष्ठा है यादृष्टा प्रसिद्ध आत्मज्ञान अनुरुद्ध ब्रह्मज्ञान निष्ठा सुज्ञान हाँ, ब्रह्मज्ञान की निष्ठा में सुज्ञान होने के लिए आत्मा में जैसी निष्ठा होती है ब्रह्म निष्ठा यही है बस यादृश आत्मज्ञान तादृश ब्रह्म निष्ठा यही है यादृशम यादृश आत्मज्ञान में कहा था ठीक है तथा भी प्रसिद्ध सिद्धा कहते हैं आत्मा के विषय में भी प्रसिद्धि नहीं है निष्ठा की प्रसिद्धि अयुक्त है क्या निष्ठा है इति संकते का किदृक तत् आत्मज्ञान कैसा होता है ये प्रश्न आया तत्व मन आत्मज्ञानम तो अय्यादृश आत्मा अरे घट ज्ञान कैसा होता है जैसे घट घट के आकार तो बनाता है वो घट विषय ज्ञान को घट ज्ञान कहते हैं उस प्रकार आत्मज्ञान माने आत्मा है जिस प्रकार आत्मा है उसी को विषय करेगा ये उत्तर है अर्थे न विशेष हो ही इतने आया उत्तर वहां अर्थ से विशेष होता है ज्ञान किसके द्वारा विशेष होता है ज्ञान जो विषय होगा उसी के द्वारा विशेष हो जाता है ज्ञान घट विषय करेगा तो विशेष ज्ञान हो गया किसका ज्ञान घट का पट का नहीं ज्ञान पट को विषय करेगा पट ज्ञान विशेष हो गया किसके माध्यम से पट के माध्यम से यही कहा अर्थ ने भी विशेष यही कहा अर्थ के द्वारा ही ज्ञान में विशेषता होती है स्वतः ज्ञान में विशेषता नहीं होती अर्थ बने विषय तो आत्मा को विषय करेगा तो आत्मा क्या आत्मा के जैसा बनेगा ये कहा अर्थ ही नहीं विषय विषय कहा अर्थ के द्वारा ही विशेष होता है ज्ञान में ये न्याय है ज्ञान में स्वतः विशेषता नहीं है जिसको विषय करेगा उसके माध्यम से विशेष बन जाता है ज्ञान घट को विषय करेगा तो घट ज्ञान और दूसरे का ज्ञान घट का ज्ञान है विशेष हो गया ज्ञान पट को विषय करेगा पट के कारण से ज्ञान में विशेषता आ गई किसके पट ज्ञान अर्थ ही नहीं विशेष ज्ञान के बारे में बोला है अर्थ के द्वारा ही विषय के द्वारा ही ज्ञान में विशेषता होती है नहीं तो ज्ञान में विशेषता नहीं आती है खाली ज्ञान ज्ञान बोलने से काम नहीं चलेगा विशेषता विषयों के द्वारा तो आत्मा के द्वारा ही आत्मज्ञान विशेष हो जाता है ये अर्थ है यादृशा आत्मा कहा था जैसे आत्मा है वैसे आत्मज्ञान है अर्थ के द्वारा ही ज्ञान विशेष होता है तस्मिन अभी विपरीत प्रत्येक है आत्मा में भी विवाद है कोई शरीर को आत्मा मान रहा है कोई कहीं मान रहा है किस प्रकार के आत्मा को विषय करने वाले ज्ञान ये प्रश्न उठेगा तस्मिन अभी आत्मी अपनी विप्रतिपत्ति आत्मा के विषय में विवाद है लोक में अप्रसिद्धि है फिर वहां भी अप्रसिद्धि है ये पूर्वादि बोलेगा आत्मा के विषय में भी जो विवाद है पृछित पूर्वादि पूछता है किदृशो सौ आत्मा कैसा है असौ मैंने आत्मा किदृशा आत्मा किस प्रकार है तो कहा अरे बाबा आत्मा उस प्रकार जिस प्रकार भगवान ने कहा हुआ है ये गीता में कहा है न थे मृत्य वा कदाचित आदि कहा हुआ है वह है आत्मा और उपनिषद वाक्य उपनिषद वाक्यों ने बहुत कहा है आत्मा के विषय में उपनिषद यही वाक्य आते हैं आत्मा के विषय में बहुत है और न्याय युक्ति से भी आत्मा सिद्ध है जिस प्रकार वाक्य स्वरूप होता है इत्यादि याद जैसा कहा ठीक है कहते आगे भगवत वाक्यानि उपनिषद वाक्यानि आश्रित हैं आत्मा के स्वरूप के विषय में भगवान के वाक्य में को लेकर अथवा उपनिषद के वाक्यों को लेकर के खंडन करते हैं उसने पूछा था उत्तर देते हैं कैसा आत्मा होता है कहा तो अरे भगवान के वाक्य से समझो ना आत्मा को उपनिषद के वाक्यों से समझो अथवा युक्ति से समझो यादृश इत्यादि कहा था तो भगवान के वाक्य क्या है कहा न जायते मृतवा इत्यादि ने वाक्य ये भगवान के वाक्य है न जायते मृतवा कदाचित आदि वाक्य है कोटस्तत्व असंग कोटस्थत्व असंगत्व इत्यादि न्याय युक्ति क्या है आत्मा में कोटस्तत्व कोटस्त विकृत नहीं होता और आत्मा असंग है संग नहीं होता ये युक्ति है तो श्रुति भगवत वाक्य उपनिषद वाक्य न्याय माने युक्ति ये युक्ति है कुटस्थत्व असंगत्व इत्यादि ये कहा अब पूर्व शिक्षण की शंका होगी जैसे आत्मा वैसे ज्ञान बोला सिद्धांत ने ज्ञान का स्वरूप बताया तो ज्ञान में निष्ठा कर कहा ज्ञान से आत्मा से अविषयत्वात् अनाकारत्वाच तद आकार ज्ञान अयोगात आत्म प्रसिद्ध अपनी न आत्मज्ञान प्रसिद्धि संगत पूर्वादी बोलता महाराज आत्मा तो प्रसिद्ध है भगवान के वाक्य से प्रसिद्ध है उपनिषद के वाक्यों से प्रसिद्ध है और युक्ति से भी प्रसिद्ध है आत्मा कूटस्थ है असंग है इत्यादि युक्ति है किंतु आत्मा को किसी का विषय नहीं बनता और आत्मा का कोई आकार नहीं है तो ज्ञान कैसे विषय बनाएगा आत्मा को तो आत्माकार ज्ञान कैसे होगा तो हमने ज्ञान कैसा बोला तो आपने कहा जैसे आत्मा बोल दिया तो आत्मा कैसा है वो तो समझ गए भगवान के वाक्यों से समझ गया ऊपर से वाक्यों से वो विषय नहीं होता आकार भी नहीं आत्मा का तो फिर ज्ञान कैसे विषय बनाएगा बनाएगा आत्मा को ज्ञान का विषय कैसे बनेगा आत्मा ये संज्ञा पूर्वादी ये ठीक में ज्ञान से विषय ज्ञान से विषयाकारत्व ज्ञान हमेशा विषय के आकार वाला ही होता है बिना विषय निर्विषय ज्ञान होता ही नहीं है कोई ना कोई विषय होगा उसका क्या होगा हाँ। घट ज्ञान होगा तो घटाकार ज्ञान होगा पट ज्ञान होगा पटाकार ज्ञान होगा पट ज्ञान होगा पठाकार ज्ञान होगा तो निर्विषय ज्ञान होता नहीं ज्ञान विषयाकार वाला होता है कैसे होता है आत्मा विषय नहीं है और आत्मा का आकार भी नहीं है ज्ञान में विषय और आकार तो दिखता है आत्मा में विषय भी आत्मा विषय भी नहीं बनता किसी का और आकार भी नहीं है तो ज्ञान का विषय आत्मा कैसे बनेगा नहीं बन सकता ये पूर्वादि की शंका है ननु विषयाकार ज्ञानम पूर्वादि भाष्य पूर्वादि भाष्य है पूर्वपक्ष का ज्ञान जो होता है विषयाकार ही होता है बिना विषय का ज्ञान होता है जैसे विषय वैसे आकार होता है ज्ञान का विषयाकार ज्ञानम न विषयो ना आकार आकारवान आत्मा आत्मा विषय नहीं है और आकार वाला भी नहीं है आत्मा और ज्ञान है ही ज्ञान होगा आत्मा विषय नहीं है और आकार वाला भी नहीं आत्मा तो इससे ऐसा माना कहा जाता है उपनिषदों में माने भगवान के वाक्य इत्यादि जो भी है क्वचित ये कहा न विषय हो ना भी आकारवान आत्मा इस तो क्वचित कहा कहीं भी ऐसा नहीं कहा जाता कि आत्मा विषय वाला विषय होता है अथवा आकारवान और आकार वाला होता है कहीं भी नहीं माना जाता श्रुति हो स्मृति हो कहीं भी स्थिति है तो पूर्वाजी शंका कहते तो कैसे ज्ञान होगा आत्मा का जिस प्रकार आत्मज्ञान आत्मा उस प्रकार आत्मज्ञान बोला आपने तो आत्मा तो विषय भी नहीं है आकार भी नहीं है और ज्ञान का विषय होता है बिना विषय ज्ञान नहीं होगा और आकार वाला होता ज्ञान विषय का आकार वाला ज्ञान होता है आत्मा विषय नहीं आकार भी नहीं तो आत्मा का ज्ञान कैसे होगा ये प्रश्न उठा तो सिद्धांत की ओर से शंका उठा देते हैं भाई ऐसा जानो आदित्य वर्णम तमसा परस्ताद आया हुआ है कैसा वर्ण है उसका जैसे सूर्य का वर्ण है ना वैसे वर्ण है आदित्य वाला वर्ण है ऐसा तो आकार बताया आप इसका विषय बताया आकार बताया हुआ है और भार ऊपर कहा हुआ है प्रकाश स्वरूप कहा आकार हाँ। बताया हुआ है श्रुति में स्वयं ज्योति कहा हुआ है आत्मा को स्वयं प्रकाश बोला हुआ है स्वयं ज्योति का स्वयं प्रकाश तो आकार बताया हुआ है ये सब बात है इत्यादि आकारवत्व आत्मा सूर्य थे सिद्धांति को शंका का ये आकारवान आत्मा सुनाई पड़ता है श्रुति में आदित्य वर्णन कहा हुआ है धारूप कहा हुआ है स्वयं ज्योति कहा हुआ है इस प्रकार आकारवत्तों आत्मा ने सुनते आकारवान आत्मा में सुनाई पड़ता है आत्मा भी आकार वाला ही सुनाई पड़ता है इन वाक्यों के द्वारा कहा तो आदि बोलता है ना उस वाक्यों का तात्पर्य आत्मा आकार वाला कहने में तात्पर्य नहीं है आत्मा तो निराकार है किंतु उस वाक्य का क्या तात्पर्य है जो आदित्य वर्णम भारूप स्वयं ज्योति आदि वाक्य का क्या तात्पर्य करे ना तमो रूपत्व प्रसिद्धार्थ माने अधेरा रूप स्वरूप नहीं आत्मा कहने के लिए है यह नहीं कि वह आदित्य वर्ण वाला है कहने का तात्पर्य नहीं है तमो रूप नहीं है अज्ञान रूप नहीं है आत्मा प्रकाश रूप है कहने का तात्पर्य अज्ञान रूप नहीं है में तात्पर्य कैसा है उसमें तात्पर्य रूप वाक्य होगा किसका जो आदित्य वर्णम रूप स्वयति आदि वाक्य का पूर्वाधिक बोल रहा है तो आत्मा में इन वाक्यों को लेकर के आकार दिखाना संभव नहीं है आत्मा निराकार है पूर्वादि कहता है ना करेगा पूर्वाधिक कहा नहीं ये श्रुति का तात्पर्य वो नहीं है तमोरूपत्व प्रतिषेधार्थ जो तमोरूप की प्राप्ति हो गई आत्मा के विषय में तो उसके निषेध के लिए वाक्य आई है तेसाम वाक्य अनुभव जो वाक्य थे कौन आदित्य वर्णवादी वाक्य थे वो तो तमोरूप के निषेध के लिए है द्रव्य गुणादि आकार प्रतिषेध आत्मा तमोरूपत देखो द्रव्य आत्मा है निषेध कर दिया गया गुण आत्मा है निषेध कर दिया गया कर्म आत्मा है निषेध संभाव आत्मा निषेध सामान्य विशेष सब का निषेध होने पर अभाव रूप होगा आत्मा तमो रूप होगा इस शंका हुई थी क्या शंका हुई थी जब नीति ने के द्वारा न इति न इति के द्वारा द्रव्य आदि का निषेध करेंगे ये आत्मा है द्रव्य पकड़ा नहीं गुण पकड़ा ये द्रव्य आत्मा है नहीं कर्म पकड़ा नहीं सामान्य पकड़ा एक एक पदार्थ सारे निषेध होते गए नीति नीति के माध्यम से तो आत्मा केवल कैसा अधेरा रूप है अभाव रूप सिद्ध हो गया इस नीति नीति के द्वारा निषेध के कारण उस स्थिति में ये वाक्य आ गया नहीं नहीं वो ऐसा तमो रूप नहीं है अभाव रूप नहीं है आदित्य वर्णम स्वयं ज्योति भाव रूप इत्यादि वाक्य आया उसमें तात्पर्य इसका जब अभाव प्राप्त हो रहा था सारे विषयों का नीति नीति को द्वारा निषेध करते समय में द्रव्यादि का निषेध करने में तो अभाव रूप सिद्ध होने जा रहा था इसलिए वो वाक्य ने बोला कि नहीं अभाव रूप नहीं हो आदित्य वर्णवादी कहा हुआ है पूर्वादी बोल रहा है द्रव्यादि आकार प्रतिषेध आत्मन प्रतिषेधे द्रव्यादि द्रव्य गुणादि जो आकार वाले पदार्थ थे उनका निषेध करने पर यह आत्मा नहीं है आत्मा नहीं है नीति नीति के द्वारा निषेध होने पर प्रतिषेध होने पर आत्मा न तबोरूपते प्राप्त है आत्मा रूप प्राप्त हो गया फिर अभाव रूप है कोई कुछ आई ही नहीं सिद्ध हो गया हो रहा है उस स्थिति में तत्प्रतिषेधार्थानी उसके निषेध करने वाले वाक्य कौन जो आदित्य वर्णम आरूप स्वयं ज्योति आदि वाक्य नहीं नहीं नहीं नहीं तमोरूप नहीं है आत्मा उसमें तात्पर्य उसका आकार बताने में तात्पर्य नहीं है आदित्य वर्ण इत्यादि वाक्य आदित्य वर्ण इत्यादि वाक्य उसमें है जो नेति नीति वाक्य आकर के जब सबको निषेध कर रहा है उस काल में तमोरूप अभाव रूप आत्मा की प्राप्ति हो रही है उस स्थिति में निश्चित के लिए कहा नहीं अभाव रूप नहीं तब रूप नहीं है कहने के लिए वाक्य है उसमें तात्पर्य कहा क्यों अरूपम इति विशेष तो रूप निषेधा अरूपम अगोत्रम अनाम वर्णम इत्यादि है तो अरूपम करके विशेष रूप से रूप का निषेध किया हुआ है आत्मा में क्या आदित्य वर्ण कैसे हो सकता है अर्थ कैसे आएगा रूप कैसे हो पाएगा उसका तात्पर्य अन्यत्र है ये पूर्वादि बोल रहा है अरूपम इति जो अरूपम शब्द स्पष्ट है रूप का अभाव तो आदित्य रूप में रूप है आदित्य वाला कहां से आएगा रूप कैसे होगा स्वयं ज्योति कैसे बनेगा रूप वाला कैसे बनेगा वो प्रकाश रूप अरूपम इति विशेष तो रूप प्रसिद्ध है अरूपम शब्द के द्वारा श्रुति में विशेष रूप से रूप का निषेध किया और आदित्य आदि कैसे आदित्य वाला रूप है उसका निषेध है तो कहां से आदित्य वाला होगा नहीं हो सकता वो तो सबका निषेध करने पर तबोरूप आ रहा था उसके खंडन के लिए कहा था ऐसा नहीं मानना ये कहा तात्पर्य है पूर्वाजी बोल रहा है दूसरी बात एक तो रूप नहीं आकार नहीं उसका आत्मा का दूसरी बात अभिषय तो अच्छा विषय भी नहीं होता किसी का विषय नहीं बनता आत्मा तो फिर ज्ञान कैसे ज्ञान जो होता है सविशेष ज्ञान होता है निर्विशेष होता नहीं है विषय विषय ज्ञान होता है विषय के अभाव में कोई ज्ञान नहीं होता और आत्मा निर्विशेष विषय अविषय है आत्मा इसलिए भी ज्ञान होना संभव नहीं यादृशा ज्ञान आत्मा कैसा बोला जैसे ज्ञान कैसे बोला ये ठीक नहीं ये पूर्वाजी बोल रहा है कहते हैं और पूर्वाजी बोलता है से वाक्य लाता है न संदृश तिष्ठति रूपमस्य सीधा सुधर में जाइए न संदृश तिष्ठति रूपमस्य न चक्षुषा पश्चित कश्य नैनम इत्यादि इसके जो रूप है ना दृष्टि गोचर नहीं होती इसका रूप कैसा होता आत्मा स्वरूप कैसा होता है आकार कैसा होता है न संदृशे हमारे दृष्टि के विषय से बाहर है न चक्षुषा पश्चित कैसे नहीं कहते जो आंख के द्वारा कोई देख नहीं सकता इस आत्मा को ये न मने आत्मान हृदय मनीषा मनसा विकृत हो यह तद विदुर अमृतास्ते भगवती है आगे बाकी आता है जो बुद्धि तीक्ष बुद्धि के द्वारा जाना समझा जाता है इतना हृदय मनीषा जो मनीषा बुद्धि है हृदय में रहने वाली बुद्धि है मनसा विकृप्त तो शुद्ध मन के द्वारा उस बुद्धि के माध्यम से जाना जाता है ये तद्विदो अमृतार्थ होते इस प्रकार जो आत्मा के बारे में जानते हैं अमृत अमर हो जाते हैं यह अर्थ है कठोपनित में श्वेता सुब्रत में और अशब्द स्पर्श मरो कथ में अशब्द स्पर्श मरूपम अव्ययम तथा अशब्द मगंध बच्चयत इत्यादि है तो शब्द नहीं स्पर्श नहीं जो शब्द वाला होता आत्मा नहीं जो स्पर्श वाला गुण होगा जिसमें आत्मा नहीं रूप नहीं जिसमें इत्यादि सबका निषेध कर देता है इत्यादि इत्यादि इत्यादि स्मृति के द्वारा रूप का विशेष रूप से निषेध किया हुआ किसका रूप का आकार का आत्मा के विषय में तस्मात आत्माकार ज्ञान इति अनुपन्नम आपने कहा आत्मा के आकार वाला ज्ञान होता कहा हमने पूछा था कैसा आत्मा पातो याद रही ज्ञान बोला जैसा ज्ञान वैसे आत्मा बोला आत्मा तो आत्मा का ज्ञान होता ही नहीं कैसे दिया ये पूर्वादि ने कहा फिर आगे और वायु वाक्य तभी कथम आत्मनो ज्ञानम जब विषय बनता ही नहीं है फिर आत्मा का ज्ञान कैसे हो ये पूर्वादि बोल रहा है आकार भी नहीं है विषय भी नहीं बनता आत्मा का आकार भी नहीं आत्मा किसी का विषय ज्ञान का विषय भी नहीं बन पा रहा है फिर कैसे आकार माने ज्ञान का आकार बता दी विषय बता दी आत्मा को सर्वम भी यद विषम ज्ञान आकार होती सारे के सारे जिस विषय ज्ञान होगा जितने भी ज्ञान होंगे जिस विषय ज्ञान होगा वो ज्ञान वही विषय का आकार वाला होता है ऐसा देखा है निराकार ज्ञान होता नहीं है और आत्मा ज्ञान का विषय बनता नहीं है तो आत्माकार ज्ञान कैसे होगा ये पूर्वाधिक सर्वम भी सबके सब जितने भी ज्ञान होते हैं ज्ञान यदि विषय ज्ञान सारे के सारे जिस विषय ज्ञान होगा घट विषय ज्ञान घटाकार होगा पर विषय ज्ञान पटाकार होगा तो किसी को विषय के बिना केवल ज्ञान होता ही नहीं है खाली ज्ञान होता नहीं है विषय सहित होता है ज्ञान तो सर्व यद विषम ज्ञान तत्कार तद्वन ज्ञान तदाकार तद्वस्तु ज्ञाकार वाला भवती निराकार से आत्मा और आत्मा निराकार है तो कैसे ज्ञान आत्मा को विषय करेगा नहीं कर सकता फिर विषय नहीं कर कैसे बोल दिया जीव जो किदृक तत् का आत्मज्ञान कैसा बोला या जैसे आत्मा को दिया कि आत्मा को विषय करने पर तो आत्मा आत्माकार ज्ञान हो पाएगा ना वो वाक्य बनता ही नहीं हमने ज्ञान के बारे में पूछा कैसा ज्ञान है कहा किदृक तत् ज्ञानम कहा तो आपने कहा जैसे आत्मा जैसा आत्मा है वैसा ज्ञान जैसा घट है छोटा बड़ा जैसा होगा वैसे ज्ञान घट का ज्ञान वैसे आत्मा जिस आकार का होगा उसे क्या तो कैसे बोला ये आकार आत्मा का आकार ही नहीं है ये पूर्वाज ने कहा से उभयोर निराकार थे ज्ञान भी निराकार आकार के बिना ज्ञान नहीं होगा और आत्मा भी निराकार आत्मा विषय ज्ञान नहीं हो पा रहा तो अज्ञान निराकार और आत्मा भी निराकार कथम तब भावना निष्ठा दोनों के दोनों निराकार होने पर फिर उसे भावना में निष्ठा कैसे करेंगे आपका भावना कैसे कर पाएगा निराकार है कोई आकार हो तो उसमें भावना जोड़ते मनोवृत्ति जोड़ते वो निराकार है ज्ञान भी निराकार हो रहा है क्यों आत्मा निराकार है तो वो ज्ञान निराकार ही है आत्मा भी निराकार उस स्थिति में कैसे मनोवृत्ति रहे वहां भावना कैसे बने तनिष्ठा कैसे बने ये पूर्वाधिक शंका आ गई तो सिद्धांत कहते हैं ना अरे बाबा आत्मा का आकार है देखो जपा पुष्प एक पुष्प है रक्त पुष्प रक्त पुष्प है जपा जपा बोलते हैं इसको लाल पुष्प होता है वो स्वच्छ होता है और शुद्ध होता है और इधर स्फटिक वो भी स्वच्छ है शुद्ध है तो स्फटिक में उसके लालिमा यहां चमकता है आकार आ जाता है यद्यपि रूप निराकार है रूप का आकार होता है क्या द्रव्य में आकार होता है रूप का आकार होता नहीं तो निराकार का भी आकार आता है किसमें फटिक में तो पुष्प के जो आकार है लालिवा वो पुष्प नहीं पुष्प का गुण है वो जो लाल पना है वो स्फटिक में पुष्प तो नहीं आएगा पुष्प के रक्त रक्ति में आएगा क्या आएगा लाल पना वो निराकार है और स्फटिक भी माने जो प्रकाश है स्वच्छ होने के कारण उसका वह आकार आ जाता है ठीक इस प्रकार बुद्धि स्वच्छ है यहां और आत्मा भी स्वच्छ है बुद्धि निर्मल है आत्मा भी निर्मल है और बुद्धि सूक्ष्म है आत्मा भी सूक्ष्म है इसलिए बुद्धि में आत्मा का आकार आ जाता पहले पहला बुद्धि पकड़ लेती है उसके आकार जैसे स्फटिक ने रक्तिमा को पकड़ा है पुष्प के लाल पड़ा को पकड़ा स्फटिक ने फटिक में आया है आवास वास्तविक लाल तो नहीं आया उसके छाया आ गया प्रतिबिंब आ गया क्या आ गया आभास आया इस प्रकार आत्मा का प्रतिबिंब आ जाता है बुद्धि में बुद्धि में आत्मत्व तो भावना आ जाती है क्या आ जाती है उस कारण से लोग आत्मा समझने लग जाते हैं उसको जैसे स्फटिक को लाल समझते हैं जो स्फटिक के वास्तविक समझ वास्तविकता न जानने वाले लोग ठीक इस प्रकार यहां भी बुद्धि को आत्मा समझने लग जाते हैं कुछ ही और बुद्धि में जब आत्मा का जो आकार आ गया स्वच्छ होने के कारण निर्बल होने के कारण और सूक्ष्म होने के कारण क्यों दोनों पदार्थ शुद्ध है बुद्धि भी शुद्ध है आत्मा भी शुद्ध है तो उसके बाद मन में आ जाता वो आवास आभाष फिर मन में आने के बाद में मन के माध्यम से इंद्रियों में आ जाता है वो आवास और इंद्रियों में आने के बाद में शरीर में आ जाता है वो आभास इसलिए कई कई लोग शरीर को ही आत्मा मान बैठे हैं वो आवास के कारण किसके कारण वो परंपरा से आवास पहुंच जाता है आत्मा का आवास शरीर तक आया हुआ होता है ये कोई बात स्थूल दृष्टि वाले शरीर को आत्मा मान जाते हैं थोड़ा सूक्ष्मवादी होंगे इंद्रियों का आत्मा मानते हैं चार बाकों में ऐसा है और थोड़ा सूक्ष्मवादी होगा वो मन को आत्मा मानते हैं चार बाक और बौद्ध लोग बुद्धि को आत्मा मानते हैं विज्ञानवादी तो आत्मा तक न पहुंचे तो यही यही रह जाते हैं बाजी लोग क्यों आत्मा का आभास आने के कारण परंपरा से आत्मा का आभास शरीर तक आया हुआ होता है तो आवास क्यों आया वो स्वच्छ है आत्मा निर्मल है और सूक्ष्म है इस पर बुद्धि भी सूक्ष्म है शरीर में सबसे सूक्ष्म बुद्धि है निर्बल भी है अन्य की अपेक्षा और स्वच्छ भी है वो भी स्वच्छ वो भी स्वच्छ वो भी निर्बल वो भी दोनों ऐसी स्थिति में है तो आत्मा का आवास जैसे बुद्धिमान है कैसे जैसे रक्त पुष्प का आवास फटिक में आ जाता है वास्तव में लाल नहीं आता लाल का छाया प्रतिबिंब आता है इसमें आत्मा का प्रतिबिंब बढ़ जाता है किसमें बुद्धि में स्वच्छ होने के कारण वो भी स्वच्छ द्रव्य भी स्वच्छ द्रव्य जैसे फटिक और पुष्प दो शुद्ध द्रव्य पाए जाते हैं उसके जो गुण है लालिमा फटिक में दिखता है भाषता है इसी प्रकार आत्मा के जो आकार बुद्धि में आ जाना आत्मा के आकार तो नहीं आएगा आकार आभास आएगा क्या आएगा आवास आएगा प्रतिबिंब जैसे रक्त पुष्प का प्रतिबिंब आया हुआ होता है फटिक इस प्रकार और बुद्धि में आने पर बुद्धि के संबंध मन में है तो मन में पहुंचेगा आभास आत्माभास और मन के बाद इंद्रियों में पहुंचेगा इंद्रियों का शरीर इसलिए कई बार ही आत्मा विमुख हो गए बाहरी आत्मा मानने लग गए शरीर आदि में कहना है ये समझाएंगे समय हो गया है बताएंगे आत्मा का भी आवास आ जाता है आकार हो जाता है ये कहना आकार निराकार का भी आकार दिखता है जैसे स्फटिक में लालिमा का आकार आ जाता है जो तो गुण तो निराकार ही होता है वो लालपना गुण है वो पुष्प नहीं है वो लालपना आ जाता है ऐसा देखा जाता है ये उत्तर देंगे समय हो गया है ओम पूर्णमद पूर्णमाद पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते